धन्यवाद नमस्कार मित्रों ये दूसरा पार्ट है अंधभक्ति के ऊपर और उसमें मैं स्पेशल रेफरेंस दूंगा शामनाथ टीम जिससे काफ़ी सुन मिली तो पिछले पार्ट में जो मैंने बताया उसका मैं समराइज करूंगा कि शंखनाद के जो कार्यकर्ता हैं एक तो मैं उन्हें कायर इसलिए कहता हूँ कायर और धोखेबाज दोनों कायर इसलिए कि वो अपना प्रोफाइल डिस्क्लोज करने से डरते हैं वो दो तीन प्रोफाइल है एक राजीव दीक्षित का फोटो लग रहा था उसका नाम है शंखनाथ दूसरा है शंखनाथ शंख का फोटो है वो तो कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोफाइल है वो ठीक है पर जब वो पोस्ट डालते हैं जब वो पोस्ट डालते हैं तो उन्हें अपने प्रोफाइल से डालनी चाहिए न कि और जब पूछा जाए कि भाई बताओ तुम कौन तो वो अपने नाम बताने से घबराते हैं आप राइट टू रिकॉल ग्रुप में देखिए तो सारे प्रोफाइल पब्लिक है और सबके रियल प्रोफाइल है मेरा प्रोफाइल 100 परसेंट रियल है बाकी जितने भी प्रोफाइल आपको दिखेंगे 100 परसेंट रियल प्रोफाइल होते हैं और वो अपना प्रोफाइल दिखाने से डरते हैं दूसरा भी मैं धोखेबाज कहता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोफाइल लड़कियों के फोटो रख के बनाए और वो सारे के सारे लड़के हैं कोई लड़के नहीं है उनसे प्रीति लता और पता नहीं कौन है जो भी है काफ़ी सारे संजना गुप्ता और तो इस तरह के उन्होंने प्रोफाइल बना दी है सब फेक प्रोफाइल और ये धोखा देने की बात है कि भाई इसके द्वारा जो दूसरे ग्रुप में लोग हैं उनको किस तरह से शंखनाद को खींचा जाए तो वो भी चलो पर शंखनाद में जो मैंने नोट किया और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर तक वो मुझे कोसते रहे कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा जब मैंने उनके सवाल का जवाब दिया तो सारे नोट्स डिलीट कर दिए क्योंकि उनके पास साथ साथ में मैंने जो क्वेश्चन रखे उसका जवाब नहीं था तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैंने शंखनाथ के लोगों से बोला कि आप इतने घंटों से सुब्रमण्यम स्वामी का प्रचार करते हो जो बहुत बड़े देशभक्त हैं उनके भारत रत्न मिलना चाहिए उनको पीएम बनना चाहिए वगैरह वगैरह तो आप उनसे दो सारे सवाल उन्होंने पूछे एक तो उनके बारे में तथ्य कि क्या 1999 में आपने सोनिया गांधी को वाजपेयी की सरकार गिराने में मदद की थी क्या आपने 1999 में सोनिया गांधी को पीएम बनाने में मदद की थी क्या आप जब 1990-91 में कॉमर्स मिनिस्टर थे तब डब्ल्यूटीओ की सारी शर्तें मान ली थी वर्ल्ड जो लिबरलाइजेशन की शर्तें मान ली थी उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था क्या आपने क्या आरएसएस को बैन करने की डिमांड रखी थी विश्व हिंदू परिषद को नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अरेस्ट करने की डिमांड रखी थी ये सारे सवाल उनसे पूछ लो पूछना ज्यादा तो आप गूगल करोगे तो भी फैक्ट मिल जाएगा और दूसरे सवाल पूछो आज के पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि सोनिया गांधी का जो फॉल्स एफिडेविट का केस है वो रीओपन करने की एप्लीकेशन आप कापड़िया के कोर्ट में एक हफ्ते में दे सकते हो कि भाई सोनिया गांधी का ये केस रीओपन किया जाए जो कि उसने जस्ट बाला सुब्रमण्यम स्वामी ने पैसा लेते रफा दफा कर दिया था और दूसरा कि आप हसन अली मतलब मैंने शंखनाथ के टीम को एडमिन से पूछा कि आप अपने ट्विटर आईडी से या ईमेल से या फेसबुक से आप सुब्रमण्यम स्वामी को ये प्रश्न पूछ सकते हो कि भाई आपने हसन अली का ए राजा का और शहीद बाबा के पब्लिक में नार्को टैक्स लेने की दरखास्त का अदालत ने क्यों विरोध किया और यदि विरोध नहीं किया तो सॉरी यदि आप समर्थन में हैं तो मैं माफी मांगता हूँ और आप कोर्ट में एफिडेविट रखो कि इन तीनों का पब्लिक में नार्को टैक्स होना चाहिए तो घंटों उनको बहस करने के लिए मिले मुझे गालियां देने के लिए मिलेगी लेकिन उनकी सुब्रमण्यम स्वामी जी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं एक दो लाइन का सवाल है ये सवाल पूछने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही क्यों क्योंकि उनको पता है ये सवाल यदि उन्होंने पूछा तो सुब्रमण्य स्वामी पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाएंगे यदि उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट मांगी कि भाई शहीद बाल बालवासा वगैरह का नाम पर टेस्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज कापड़िया को या तो हाँ बोलना पड़ेगा या तो ना बोलना पड़ेगा यदि ना करेंगे तो कापड़िया एक्सपोज हो जाएंगे वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं चाहती कि कापड़िया एक्सपोज हो जाए और यदि हाँ बोलेंगे और इनका पब्लिक में नार्को टेस्ट होता है तो मनमोहन सिंह चिदम्बरम शरद पवार ये सोनिया गांधी रॉबर्ट वगैरह बहुत सारे नेता एक्सपोज हो जाते हैं अहमद पटेल हसन अली अहमद पटेल का पैसा भी हैंडल करता है तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी मुझे पक्का पता है कि ये किसी दिन इनका नाको टेस्ट नहीं मांगने वाले वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं कोर्ट के अंदर देखिए सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं सबको बेल मिल गई छह आठ महीने के लिए शहीद बालों को बेल मिल गई एंड में करी मोदी को बेल मिल गई चलो राजा का अच्छा एक डेढ़ साल रुपया पड़ा लेकिन अब तो बेल मिल ही नहीं उसको करोड़ों रुपया जो उसने कमाया ऐश्वर्य से वो रहा और सुब्रमण्यम स्वामी से वो सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं यदि ये राजा का पब्लिक में नाम प्रोटेस्ट लिया होता तो इतने सारे सबूत मिल जाते कि तो दस साल तक उसको बेल नहीं मिलती कि, किसी को बेल नहीं मिलती ऊपर से बीस लोग और जेल में जाते खैर तो अब अंधभक्तों से आने वाले समय में हमें क्या नुकसान मेरा जो मुख्य मुद्दा दूसरा इस वीडियो का यह है अंधभक्तों का कि पेड मीडिया ने मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जिनको पैसा मिलता है उन्होंने इन सब लोगों को हीरो बना दिया कैसे हीरो बना दिया है कि हमारे पॉलिटिक्स में आज एक वैक्यूम है वैक्यूम इसलिए क्योंकि जितने भी युवा लोग हैं उन्हें अपने पार्टी के नेताओं में कोई भरोसा नहीं बचा कांग्रेस के कैसा भी दृढ़ सपोर्टर हो उसे सूर्यपंखा गांधी में विश्वास नहीं मनमोहन सिंह भ्रष्ट आदमी है चिदम्बरम ने सबसे पाँव तक रिश्वत खो रहे कांग्रेस के सारे नेता रिश्वत खो रहे एंटोनी ये जितना ये दिग्विजय सिंह साहब बीजेपी के भी सारे नेता रिश्वत खो रहे ऐसे गडकरी गडकरी ने तो अभी पच्चीस करोड़ रुपया लिया मौलाना यादव सर मनमोहन ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया आप प्रणोद महाजन तो डेथ हो गई लेकिन वो भी सबसे बड़े करप्ट नेता थे अरुण जेटली सुषमा स्वराज और ये अडवाणी ने तो सऊदी अरेबिया से पैसा आया तो नेशनल आईडी सिस्टम जो स्कीम थी वो पूरी बंद करा दी होम डिपार्टमेंट की ताकि बांग्लादेश घुसते जाए घुसते जाए तो और उसके बाद दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में भी सबके सब थे उद्योग भट्टाचार्य तो पैसा मिला था सालिन नाम की कंपनी ने पैसा दिया था उसको तो नंदीग्राम पूरा गांव खाली कराने को मिला था और सिंदूर में उसने किसान जमीन नहीं देना चाहते थे किसान जमीन देना चाहते थे पर पैसा मांग रहे थे कि भाई हमें पच्चीस तीस लाख दो और गवर्नमेंट ने बोला भी सात लाख ही देंगे पर एकड़ और सात लाख में देगी अधिकतर पैसा तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही खा गए किसान को तो दो तीन लाख ही मिले और जब किसानों ने विरोध किया तो सारे किसानों ने जम के पिटाई की हाथ तो तोड़ कम्युनिस्ट पार्टी और वो सब किया था उद्योग भट्टाचार्य के हो गए तो सारी पार्टियों में जब इतना बड़ा वैक्यूम करप्शन का माहौल है तो लोगों में नए नेता कुछ उभर रहे थे जैसे स्वामी रामदेव जी है राजीव दीक्षित जी है ये नए नेता उभर रहे थे तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनियों ने देखा ये नेता वो तो खत्म करना पड़ेगा इसलिए राजीव दीक्षित की हत्या करा दी और वैक्यूम में यदि हमने हमारे आदमियों को नहीं रखा as a hope as a ray of hope कि इन लोगों में उम्मीद रखो ये लोग तुम्हारी समस्या का उपाय लाएंगे हमारे एजेंटों को हम प्लेस कर देते हैं ताकि कार्यकर्ता उनको खींचे जाए तो यदि राजीव दीक्षित जी होते तो सुब्रमण्यम स्वामी छोटे अन्ना अन्ना इनमें से किसी को कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती क्योंकि कार्यकर्ता उन्हीं की ओर खींचे जा रहे थे भले मीडिया उनको प्रचार करे ना करे एक भी मीडिया उनको प्रचार नहीं करा था एक भी अखबार भी उनका प्रचार नहीं करा था तो भी बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर उनकी ओर जा रहे थे अब कैसे इनको हीरो बनाया जाए तो अलग अलग स्ट्रेटेजी थी जैसे धरना और छोटे अन्ना के केस में कोई जानता नहीं था चार अप्रैल दो हजार ग्यारह को वो अनशन पे बैठे जंतर मंतर पे और अखबारों ने दिन के चौबीस घंटे अन्ना अन्ना अन्ना की फोटो दिखाई एक एक इंडिया का एक एक आदमी अन्ना को जानने लगा अन्ना हीरो हो गए कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये बैठा दिया गया कि ये काम और कोई नहीं कर सकता करेगा तो सिर्फ नहीं कर सकता आपको एक तो भ्रष्टाचार खत्म करना है अन्ना के साथ जुड़ जाओ और कोई रास्ता नहीं है आपके पास तो अन्ना के साथ जुड़ गया और इतना बड़े पैमाने में प्रचार हुआ सब छिपाया गया झूठ बोला गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के अंतभक्त हो गए इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी के साथ हुआ मल्टीनेशनल कंपनियों ने पहले न्यायाधीशों को बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी केस लेके आएंगे आप सीधा उनके केस को फोर्थ में डाल देना ताकि सिटी मिली और फिर पेड मीडिया को बोला कि सुब्रमण्यम स्वामी कल कोर्ट में आठ क्षण का आलतू फालतू बात करेंगे कुछ भी वो तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जज उनके फेवर में जजमेंट दे देंगे और आप अखबार में फ्रंट पेज पर छाप देना उनकी फोटो छाप देना और बोल देना कि बहुत राष्ट्रवादी नेता है भारत के लिए मर मिटने को तैयार है वगैरह वगैरह और उन्होंने भी सारे राष्ट्रवाद के जो निबंध है वो रट लिए सुब्रमण्यम स्वामी और इस तरह से वो पेड मीडिया ने हिंदू बना दिया अब बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि every political news is a paid news Times of India Indian Express अधिकतर रीजनल अखबार भी अब बिके हुए हैं सड़सठ गाँव तक बिके हुए टाइम्स ऑफ इंडिया तो अंग्रेजों ने शुरू किया था हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए रखने के लिए तो ये सारे अखबारों ने सुब्रमण्य स्वामी के बड़े पैमाने पर जब फोटो छापने शुरू किए उनके फेयर में लिखने शुरू किया तो कार्यकर्ता उनके चपेट में आ गए और वो सुब्रमण्य स्वामी को हीरो मानने लगे तो अधिकतर लोगों ने तो किया कि चलो इस आदमी का इतिहास देखते हैं कि पचास साल से मतलब तीस चालीस साल से पॉलिटिक्स में है तो देखते तो हैं कि भाई ये पिछले चालीस साल से पॉलिटिक्स में उसने क्या क्या किया किया होता तो वो दिख जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा का क्यों विरोध किया इसलिए नहीं कि उन्हें इमरजेंसी डाली उन्होंने तो देवी इंदिरा अम्मा का विरोध इमरजेंसी से पहले ही शुरू कर दिया इमरजेंसी देवी इंदिरा अम्मा की बहुत बड़ी गलती थी इस गलती के लिए मैं भी कहता हूँ कि बहुत बड़ी गलती थी उनके लिए इमरजेंसी से पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों उनका विरोध किया क्योंकि तो उन्होंने पोखरण मन किया था तो पोखरण मन तो हिंदू के की अच्छी बात थी उसके लिए तो नेता को शाबाशी देनी चाहिए जैसे मैं वाजपेयी का विरोधी था हमेशा विरोधी हूँ लेकिन जब उन्होंने पोखरण तो किया तो मैंने कहा कि भाई दो साल तक वाजपेयी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दो तीन साल तक तो उनको पावर में कायम रहने देना चाहिए क्योंकि पोखरण तो अच्छा काम था भारत के लिए अच्छा काम था तो जब इंदिरा गांधी ने पोखरण बन किया तो कोई भी देशभक्त आपकी तो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेगा लेकिन सुब्रमण्य स्वामी ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि उस समय अमेरिका नहीं चाहता था कि पोखरण वन और अमेरिका पोखरण वन इंदिरा गांधी ने पोखरण वन के लिए सबक सिलाना चाहता था इसलिए अमेरिका ने सारे नेताओं को पैसा देना शुरू किया कि इंदिरा गांधी के को जितना हो सके उतना बदनाम करना शुरू करो और सुब्रमण्यम स्वामी इंदिरा गांधी को बदनाम करने में लग गए ये nineteen seventy three seventy four की बात उसके बाद 1990 में जब वो कॉमर्स मिनिस्टर थे तब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड डब्ल्यू की सारी शर्तें मान ली फिर इसी तरह से ये अंधभक्ति का परिणाम है कि इतने अंधभक्त बन गए अखबारों में सुब्रमण्य स्वामी का पढ़ पढ़ के कि उन्होंने सारे फैक्ट्स नजरअंदाज कर दिए और दहना के बारे में भी ये हुआ द छोटे अन्नों के बारे में भी ये हुआ और बाद में जब तथ्य सामने आए कि द तो छोटे अन्ना में से जो आभूषण है वो ओपनली पाकिस्तान के एजेंट है ओपनली पाकिस्तान के एजेंट है कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए और ये स्टेटमेंट जब उनका आया तभी भी अनुभक्तों का मोह भंग नहीं हुआ मैंने कहा अन्ना इसको समर्थन दे रहे हैं उन्होंने कहा अन्ना ने कहा समर्थन दिया ये तो आभूषण ने समर्थन दिया कहा भाई आभूषण उनकी टीम के खास आदमी है छोटे अन्ना अन्ना खुद उन्हें छोटे अन्ना कहते पुकारते हैं और उन्होंने ये दिया और उसके सामने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की उसके बाद आ, आ, दो कार्यकर्ताओं ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के दो कार्यकर्ताओं ने जब आभूषण की पिटाई की कोर्ट के अंदर जाके तब मामला इतना बड़ा हो गया कि ध अन्ना को स्टेटमेंट देना पड़ा तो ध अन्ना और एक छोटे अन्ने ने स्टेटमेंट क्या दिया कि हम कश्मीर के लिए पाकिस्तान से दूसरा युद्ध लड़ने को तैयार है भाई पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की बात ही नहीं हो रही थी रेफरेंडम की बात हो रही थी अभी तक ध अन्ना ने कश्मीर में रेफरेंडम नहीं होना चाहिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया छोटे अन्यों ने भी कश्मीर में रेफरेंडम नहीं होना चाहिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बात इतनी दूर पकड़ ली उसके बावजूद तो भी अनुभक्त उनकी अनुभक्ति से बाहर नहीं आ रहे अब साफ साफ दिख रहा है कि अन्ना ने एक डेढ़ साल टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं किया कार्यकर्ताओं में जो रोष इकट्ठा हुआ था पूरे अक्टूबर 2010 से लेके अप्रैल 2011 जब पूंजी का चर्चा आया कोयले के भ्रष्टाचार के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसी वक्त आ गई थी बाद में दबा दी गई बाद में अब फिर आ रही है फिर ये टू जी ये C W G Commonwealth game का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया और आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार की निष्फलता महंगाई के मुद्दे पे सरकार की निष्फलता ये सारा जो रोष इकट्ठा हुआ था उस रोष को सेफ्टी वाल की तरह रफे दफे करना इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने धारणा को खड़ा किया था और काले धन की बात को रफा दफा करने के लिए ये भी एक था अब कहीं जाके कार्यकर्ताओं को बात समझ में आई कि भाई ध सबसे मौतक फ्रॉड थे ध छोटे अन्ना भी सबसे मौतक फ्रॉड है लेकिन अभी भी जो अंधपत्ति वस्तु ऐसी होती है कि मोह भंग नहीं होता और जब मोह भंग होता है तो आदमी पॉलिटिक्स से एक प्रकार का संन्यास ले लेता है मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी उम्र मेरी उम्र के हैं और कुछ मेरी उम्र से दस एक साल बड़े हैं वो एक जमाने में लालू यादव के अंधभक्त होते थे एक जमाने में लालू यादव को बहुत अच्छा नेता माना जाता था शरद यादव को बहुत अच्छा नेता मानते थे नीतीश कुमार को बहुत अच्छा नेता मानते थे ये आदमी तो कभी रिश्वत नहीं लेता लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि ये आदमी राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाएंगे पाँच साल से पाँच साल उन्होंने राइट टू रिकॉल का प्रचार किया था आने के बाद तुरंत कर गए सब करप्ट हो गए लालू यादव तो आप जानते हैं नीतीश कुमार भी आप जानते हैं कितना करप्ट आदमी है हाँ, नीतीश कुमार मिशनरी होने में उसको पैसा दिया और पीएम बनाने की लालच दी है इसलिए नीतीश कुमार पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर ये कानून लाने की मुहिम चेक रखी है उन्होंने कि दलित शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए इस प्रकार का कानून नीतीश कुमार पार्लियामेंट में लाना चाहिए क्यों क्योंकि मिशनरियों ने उनको बोला है कि इस तरह के कानून लाने की मदद करोगे तो हमारे पास जो नेशनल मीडिया है नेशनल ये नेशनल मीडिया को काफी पैसा देते हैं तो ऑफ इंडिया इंडियन सब हम उस मीडिया में आपकी बहुत तारीफ करेंगे आपको पीएम बनने का मौका मिलेगा और पार्लियामेंट में जब आपको सांसद खरीदने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सांसद बीस बीस पच्चीस करोड़ मांगेगा तब हम आपको मुंह मांगा पैसा देंगे ताकि आप सांसद खरीद के पीएम तो जो अंधभक्त है एक जमाने में जो कि नीतीश कुमार के अंधभक्त होते थे लालू यादव के अंधभक्त है आज वो इतने उगता चुके हैं कि वो पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेना चाहते वो देश के लिए कुछ करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है कि देश के प्रति उनका आदर कम हो गया या देश के प्रति भक्ति खत्म हो गई लेकिन एक उनके दिमाग में ऐसा आ गया है कि भाई हमने जिस आदमी पर इतना भरोसा किया उस आदमी ने इतना धोखा दिया तो इसका मतलब कि अब कोई भरोसे के लायक है नहीं ये देश डूबने वाला है ये अंधभक्ति का अंतिम परिणाम होता है देश का तो टाइम वेस्ट होता ही है जैसे सुब्रमण्यम स्वामी आपका टाइम वेस्ट करा सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं कि देश को कोई अच्छे कानून की जरूरत नहीं साइंस एजुकेशन की जरूरत नहीं है मैथ एजुकेशन की जरूरत नहीं है वेपन अच्छे हथियार बनाने की जरूरत नहीं बस सनातन धर्म के बारे में बोलेंगे सनातन धर्म आएगा लेकिन सनातन धर्म लाना है क्यों लाना है ताकि हथियारों का उत्पादन बढ़े गणित का शिक्षण सुधरे मैथ का एजुकेशन सुधरे और सुब्रमण्य स्वामी एक रट लगा के रहते हैं कि यूनिटी ये शब्द उन्होंने रट लिया है और बताते रहते हैं कि यूनिटी नहीं है इसलिए हम आगे देखो मुस्लिमों में यूनिटी है क्रिश्चियनों में यूनिटी है भाई क्या यूनिटी है मुझे तो कभी यूनिटी नहीं दिखी वो एक यूनिटी में मेरा पूरा अगला वीडियो है जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप गूगल कीजिए कि शिवाजी के तोपची का नाम क्या है शिवाजी की जो आर्टिलरी थी तोप का पूरा जिसको आर्टिलरी कहते हैं मोहम्मद खान उसका नाम था अपने नाम ऐसे भी भूल गया पर वो मुस्लिम था शिवाजी की सेना में 20 परसेंट से ज़्यादा सैनिक मुस्लिम थे ये सारा आपको गूगल पे मिल जाएगा कोई अपनी जेब में से इतिहास नहीं बता रहा उसका जो तोपची था उसकी पूरी तोप शिवाजी के पूरे तोप रेजिमेंट में इनको ऑफिसर से पाँव तक अधिकतर मुस्लिम थे तो कहाँ यूनिटी थी क्यों वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे क्यों उन्होंने औरंगजेब मुसलमान था क्यों उसने क्यों उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं किया इसी तरह से 1857 में जो विद्रोह हुआ था तब पाकिस्तान में जो पठान है उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था बादशाह जफर के खिलाफ लड़ने आए थे वो और क्रिश्चियनों में यूनिटी होती तो क्या जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ उसी में तो भारत को आजादी लाने में बहुत बड़ी मदद मिली यदि उनमें यूनिटी होती तो जर्मन ने क्यों जापान का सहयोग लिया क्यों तो उसने क्रिश्चियन देशों को साथ नहीं किया फ्रांस इंग्लैंड वो सारे क्रिश्चियन कंट्री थे तो ऐसा देश को सुधारने के लिए अच्छे कानून चाहिए गणित का एजुकेशन चाहिए विज्ञान का एजुकेशन चाहिए इन दोनों को मिला के हथियार बनाने की क्षमता आती है हथियार बनाने के लिए जो कानून चाहिए वो कानून चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी कानून कार्यकर्ताओं का टाइम पास करें कि ये सारे कानून जरूरी नहीं है एक भी कानून जरूरी नहीं है बस आप यूनिटी की बात करो मुझे प्रधानमंत्री बना दो मुझे सीबीआई डायरेक्टर बना दो ये उन्होंने सोल्यूशन दिया कि भाई आप तो सिर्फ पीजी के केस के बारे में बोलते हैं तो इसमें इतने सारे भ्रष्टाचार के केस में तो कि भाई देखो मेरे पास सारे केस के बारे में बोलने का समय नहीं बात ठीक है आप मुझे सीबीआई का डायरेक्टर बना दो मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ये उनका सोल्यूशन है कि आप सीबीआई के कोई कानून नहीं बदलेगा कोई नई व्यवस्था नहीं आएगी व्यवस्था परिवर्तन जरूरी नहीं है आपको सीबीआई का डायरेक्टर बना देंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे आप तो इस तरह से ये कार्यकर्ताओं का टाइम पास कर रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे जो दुश्मन है मल्टीनेशनल कंपनियां मिशनरी वगैरह उनको आगे बढ़ने का निरंतर मौका मिले और वो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखिए एक के बाद एक कंपनियां बिक रही है डाबर विद्या पिरामल विद्या रणपक्षी विद्या ये सारी दवाई की दवाई बनाने वाली कंपनी है ये दवाई बनाने की अधिकतर कंपनी एक के बाद एक बिक रही है उसके बाद खाना बनाने की कंपनियां भी धीरे धीरे बिकनी शुरू हो जाएगी खेती में उनको आने का लाइसेंस दे दिया मनमोहन सिंह ने आ, रिटेल में आधा लाइसेंस दे दिया और बाकी आधा लाइसेंस इसका दे दिया कि यदि कोई राज्य सरकार वॉलमार्ट को इन्वाइट कर दिए तो वॉलमार्ट जा सकती है तो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री उनको पैसा दे देंगे कि वॉलमार्ट वाली कंपनियां और वो घुस जाएंगे मुझे मैं वॉलमार्ट से किस सेंस में विरोधी हूँ कि यदि हंड्रेड भारतीय वॉलमार्ट आती है उसका नाम वॉलमार्ट नहीं रहेगा कोई और ही नाम होगा तो मुझे कोई एतराज नहीं मैं मॉल के खिलाफ नहीं हूँ इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं पर अमेरिकन कंपनियों को हमें नहीं घुसने देना चाहिए हमें पूरा मॉल का नेटवर्क बनाना चाहिए जो सर से पाँव तक हिंदुस्तानी हो सारे उसके ओनर हिंदुस्तानी हो उसका पूरा टेक्नोलॉजी इंडियन हो और ऐसी कंपनी को मैं पूरा प्रोत्साहन देने में मानता हूँ पर सुब्रमण्यम स्वामी अलग है वो पिछले दरवाजे से वॉलमार्ट को घुसने की कोशिश कर रहे हैं देखिए उन्होंने जब मामला तुल पकड़ा तो कार्यकर्ताओं को पकड़े रखने के लिए उन्होंने वालमार्ट के खिलाफ स्टेटमेंट इश्यू किया लेकिन जब मेन बात आई कि भाई मनमोहन सिंह को नौकरी से निकालना चाहिए क्योंकि मनमोहन सिंह तो वालमार्ट को परमिशन दे रहा है तो सुब्रमण्य स्वामी का स्टेटमेंट आया कि मनमोहन सिंह को आप चौदह तक राज करने दीजिए शासन करने दीजिए काफी मल्टीनेशनल कंपनी आराम से देश में घुसती रहे फिर इसी तरह से देश मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी नहीं चाहती कि देश में राइट टू रिकॉल का कानून आए क्योंकि राइट टू रिकॉल का कानून आया तो मिशनरियों को तो क्या मुसीबत हो जाएगी कि अभी वो अधिकारियों को पैसे देके एक के बाद एक मंदिर हड़प कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मिशनरियों ने आधे से ज्यादा मंदिर हड़प कर कर्नाटक में मंदिर हड़प कर रहे थे एक के बाद एक यदि यूरोपा के आने की वजह से रोक आ गई तो उन्होंने यदि यूरोपा को के समय सच्चे झूठे के दिलवा को नौकरी से निकलवा दिया तमिलनाडु में एक के बाद एक के बाद एक मंदिर मंडी मिशनरियों के कंट्रोल में आ रहे इसमें वो अफसरों को पैसा दे रहे और यदि राइट टू रिकॉल आ गया तो ये सारी उनकी योजना में पानी फिर जाएगा क्योंकि तो अधिकारी फिर पैसा लेने से मना कर देगा कोई अधिकारी पैसा लेता है और ऐसे धंधे करता है तो पब्लिक उसे नौकरी से निकाल देगी तो मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी नहीं चाहते कि भारत में राइट टू रिकॉल आए इसलिए सुब्रमण्य स्वामी ने स्टेटमेंट दे दिया कि right to recall is an nonsense उसका यूट्यूब पे स्टेटमेंट में अपनी और से नहीं बोल रहा ये स्टेटमेंट ये सुब्रमण्य स्वामी का अपना स्टेटमेंट है कि right to recall is an nonsense और अंधभक्ति की सीमा देखी है मैंने शंखनाथ के लोगों से कहा कि भाई आपके कि आप राजीव दीक्षित जी का फोटो दिखाते हैं राजीव दीक्षित जी ने तो 15 साल राइट टू रिकॉल का प्रचार किया 1996 में मैंने उनके राइट टू रिकॉल के आर्टिकल पढ़े थे आजादी बचाओ आंदोलन में तब होते तो जिन्होंने चौदह पंद्रह साल राइट टू रिकॉल का प्रचार किया उनके चार वीडियो भी मैंने उनको दिखाए और यहाँ दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी बोलते right to call nonsense का आप सुब्रमण्यम स्वामी की मंशा के बारे में मोटिव के बारे में क्या स्टेटमेंट है तो उन्होंने मेरे पे इल्जाम डाला कि मैं राइट मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ मैंने कहा चलो कांग्रेस का एजेंट हूँ आप राइट टू रिकॉल को जवाब दीजिए ना मैं तो आपको जिसका एजेंट देता हूँ उसका हूँ तो क्या आप राइट टू रिकॉल का मुद्दा कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को फायदा हो मैंने कहा अच्छी बात है 1870 में 1870 में सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था राजा प्रजाधीन होना चाहिए यानी वो राइट टू रिकॉल की बात अलग तरह से हुई राजा प्रजाधीन होना चाहिए प्रजा के आधीन यानी प्रजा कभी भी उसे नौकरी से निकाल सके तो क्या वो कांग्रेस के एजेंट थे 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं राइटिंग में है ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो पहला डॉक्यूमेंट था मैनिफेस्टो उसमें 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो चुनाव और लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा ये उनके एग्जैक्ट वर्ड में बोल रहा हूँ तो क्या वो भी आपको कांग्रेस के एजेंट दिख रहे हैं उसके बाद राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण और एम एन रॉय इन तीनों ने राइट टू रिकॉल की लगातार मांग की क्या ये दिन भी आपको कांग्रेस के एजेंट हो गया और यदि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ तो मैं राइट टू रिकॉल के बारे में कार्यकर्ताओं को उत्साह उकसा तो आप ये क्यों नहीं सीधा पूछ लेते हर एक नेता से कि अन्ना या जो दूसरे कि आप राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट लीजिए और सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बात की कि राइट टू रिकॉल की इंस्टेबिलिटी आएगी वो तो मैंने अपना ड्राफ्ट उनको दिखाया कि इस ड्राफ्ट में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आती सारे शंखनाथ के कार्यकर्ता इस बात पे मानते कि हाँ ये राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करता तो दूसरा उन्होंने स्टैंड किया कि आज के बाद हम ड्राफ्ट पढ़ने ही नहीं वाले जब ड्राफ्ट देख के ये क्लियर हो गया कि इससे सुब्रमण्यम स्वामी का जो क्लेम है कि इससे इंस्टेबिलिटी होगी वो गलत है तो उन्होंने बोला कि हम ड्राफ्ट पढ़ना ही नहीं चाहते आपके सारे ड्राफ्ट बकवास है मैंने कहा चलो मेरे सारे ड्राफ्ट बकवास है आप मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के ड्राफ्ट ला के कि बांग्लादेशियों को देश से निकालने के लिए वो क्या कानून प्रपोज कर वो छोटी समस्या तो नहीं है दो करोड़ घुस चुके हैं बांग्लादेश में एक वेस्ट बंगाल में एक तहसील है दिगंगा करके तहसील है वहाँ एक भी हिंदू नहीं है पूरी तहसील में अभी एक भी हिंदू नहीं बचा और 1951 के सेंसस के मुताबिक वहाँ हिंदुओं की आबादी 80-25 प्रतिशत थी और वहाँ एक भी हिंदू नहीं है पूरा तहसील है वो बांग्लादेशी और वेस्ट बंगाल के मुस्लिम है उससे भरा पड़ा है अहमदाबाद जैसे शहर में इतनी दूर हिंदुस्तान के दूसरे कोने में बांग्लादेश के दूसरे कोने में अहमदाबाद में पच्चीस हजार गैर कानूनी बांग्लादेशी ऐसी यहाँ की पुलिस कहती है उनका अंदाज है उनका अंदाज है कि यहाँ पे पच्चीस हजार बांग्लादेशी है बॉम्बे के लोग कहते हैं कि बॉम्बे में कम से कम तीन लाख से चार लाख बांग्लादेशी है गैर कानूनी दिल्ली में कहते हैं कि दो लाख गैर कानूनी तो बांग्लादेशियों को निकालने के लिए जो कानून सुब्रमण्यम स्वामी प्रपोज कर रहे हैं वो कानून आप क्यों अपने वेबसाइट पर नहीं डालते असलियत यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई कानून प्रपोज ही नहीं किया मैंने कहा उनसे पूछिए कि वो कानून है मेरे ड्राफ्ट आपको बकवास लग रहे हैं उनको कहिए कि अच्छे ड्राफ्ट दे इससे तो अच्छे ड्राफ्ट देना उनके राइट लेफ्ट हैंड का काम होना चाहिए आप चालीस साल से पॉलिटिक्स में हार्वर्ड में प्रोफेसर रह चुके हैं लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं एक डेढ़ साल चार पाँच साल उनकी पूरी करियर में कुछ चार पाँच साल मिनिस्टर रह चुके हैं दस बारह साल एम रह चुके हैं उनको कहिए कानून एक दिन दो दिन दस दिन में लिख के दे देंगे तो शंखनाथ के अंधभक्त उनसे ये कानून का ड्राफ्ट मांगने से अब बकरा गया क्यों घबरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट मांग लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी बांग्लादेश को निकालने का ड्राफ्ट देने नहीं वाले क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को जो मीडिया फंडिंग मिल रहा मतलब सऊदी अरेबिया की लॉबी मीडिया को पैसा दे रही है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी का फ्रंट पेज में नाम छापो मिशनरी है वो पैसा दे रहे हैं अखबार वालों को कि आप सुब्रमण्यम स्वामी का फोटा आपका फोटो फ्रंट पेज में छापो वो पैसा बंद हो जाएगा यदि सुब्रमण्यम स्वामी ने बांग्लादेश को खिलाफ मुहिम शुरू की तो जब अंधभक्तों को पता लगता है कि उनके नेता एक्सपोज हो जाएंगे तो सवाल पूछना बंद कर देते हैं पब्लिक में और जो सवाल देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी पूछना बंद कर देते हैं अब बांग्लादेशियों का सवाल उसमें मेरा कांग्रेस एजेंट होने की क्या बात है तो उसका क्या लेना देना मान भी लो एक सेकंड के लिए कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं तो उसका बांग्लादेशियों की समस्या से क्या लेना देना सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी कानून एमपी रह चुके हैं और ये बात अन्ना और छोटे अन्नों पे भी आती है वो भी कमेटी के मेंबर हो चुके भले एमपी नहीं रह चुके हैं वो भी बांग्लादेशों का समर्थन कर रहे हैं अन्ना और छोटे अन्ना सारे के सारे उनको भी उनके कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई बांग्लादेशों को निकालने के लिए कुछ कानून दीजिए लोकपाल का कानून ठीक है लेकिन लोकपाल तो थोड़ा एक एक बांग्लादेशों को ढूंढने जाएगा दो करोड़ घुस के आ गए हैं पूरे भारत में तो बांग्लादेशों को निकालने का कानून का ड्राफ्ट दो तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि बांग्लादेशों को देश से निकालने का कोई ड्राफ्ट हमें नहीं दे रहा तो उनके भक्तों ने भी उनसे ये सवाल पूछना बंद कर दिया कि भाई हम दोबारा ये सवाल पूछेंगे ये दोबारा यही जवाब देंगे मीडिया में बात आ जाएगी हमारे नेता एक्सपोज हो जाएंगे हमारे नेता है उनकी पब्लिक में इमेज खराब हो जाएगी देश बाढ़ में जाए भले ही बांग्लादेश दो करोड़ आ जाए चार करोड़ और आ जाए ये सवाल हम अपने नेता से नहीं पूछेंगे तो अंधभक्ति है वो दो तरह से टिकती है उनके नेता उनके दिमाग में घुसा देते हैं कि यूनिटी इंपॉर्टेंट है देश भर में जाए यूनिटी जरूरी है यूनिटी के लिए जरूरी है कि तुम एक आ, एक ही बात बोलो वही बात बोलो जो नेता तुमसे बोला है वो बोलता है नेता कुछ अलग बात बोलता है तो वो बोलो ही मत नेता एक्सपोज हो जाए ऐसे कोई सवाल ही मत पूछो कि जिससे नेता पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाए और अंधभक्ति इस तरह से बढ़ती जाती है और अंधभक्ति एक तरह से इन्फेक्शन इन्फेक्शस कैसा है कि एक आदमी मान लो सौ दो सौ हजार दो हजार अनभक्तों का ग्रुप है वहां पे चला गया तो जैसे ही वो कुछ सवाल पूछता है सब उसको दबा देते कि तू कांग्रेस का एजेंट है गलती से उसने मान लो तो सवाल पूछा तो भाई हमें सुब्रमण्यम स्वामी जी को कहना चाहिए कि वो हसन अली का नार्को टेस्ट मांगे हसन अली का नार्को टेस्ट चाहिए आप तो कांग्रेस का एजेंट है यानी वो सवाल पूछने से डरता है आप अंधभक्तों की तादाद हो गई एक हजार एक तो नया आदमी आएगा उसको और डरना पड़ेगा कि भाई मैंने कुछ बोला तो यहाँ पे एक हजार एक लोग हैं जो मुझे कांग्रेस का एजेंट मान लेंगे यानी एक तरह का माहौल बन जाता है कि यदि आपने सुब्रमण्य स्वामी को एक्सपोज करने की कोशिश की तो आप कांग्रेस के एजेंट की तरह गालियां देंगे आपको पब्लिक में नीचा दिखाएंगे आपके दोस्तों के बीच आपको नीचा दिखाएंगे यानी वो सवाल पूछने से फिर धीरे धीरे घबरा जाता है और अंधोभक्तों की संख्या इस तरह से बड़ी हो जाती है आज मैंने अन्ना के काफी कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप छोटी मोटी जो आपकी मीटिंग होती रहती है पचास सौ लोगों की कभी कभी बड़ी मीटिंग भी होती है पाँच सौ छह सौ उसमें यदि कोई यदि अन्ना और छोटे अन्ना आते हैं तो उनसे ये सवाल पूछो तो उन्होंने पूछा कि ये सवाल मैं नहीं पूछ सकता मीटिंग में मैंने कहा क्यों नहीं पूछ सकते कि मैंने ये सवाल पूछा तो सारे कार्यकर्ता उठ के खड़े होंगे कि कांग्रेस ने जुड़े ये सवाल पूछने का पैसा तो वो आप सवाल पूछने से घबराते मैंने कहा आप सवाल मीटिंग में सवाल नहीं पूछे तो ऐसा करो ईमेल से सवाल पूछो और जो जवाब आता है वो फेसबुक पर रख लो और आप ईमेल डालते समय साफ साफ लिखो कि डियर छोटे अरना मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ और ये सवाल का आप जो जवाब दोगे मैं फेसबुक पे डालूंगा और अपने जो कलीग है इंडिया अगेंस्ट करप्शन उनको भी सीसी लिस्ट में डाल दूँ कि भाई देखो मैंने इतने लोगों को सीसी लिस्ट में डाला यानी मैं ये सवाल पब्लिक पब्लिकली पूछ रहा हूँ तो फिर सवाल का जवाब तो नहीं आएगा मुझे ईमेल लिस्ट से निकाल देंगे मेरे को बोल देंगे कि मीटिंग में मत आना कभी और सारे फेसबुक पर लिख देंगे कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ मुझे गालियाँ देंगे मेरी बदनामी करेंगे तो एक एग्रेसिवनेस आ जाती है अनभक्तों में कि यदि तुम हमारे नेता में अनुभक्त नहीं हो तो तुम गद्दार हो तुम कांग्रेस के एजेंट हो तो अब ऑन द कॉन्ट्ररी आप राइट टू रिकॉल ग्रुप में देखोगे तो शुरू से लेकर आज तक 1998 में मैं शुरुआत की दो चार साल तक तो मैं अकेला ही था अंधभक्ति का इस तरह का कोई नामो निशान नहीं है क्योंकि हमारे में लीडर ही नहीं है कोई ये जो section 1.3 Rahul Mehta dot com slash zero zero Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P आप डाउनलोड करोगे 301.h 301.htm तो ये जो तीन लाइन का कानून हमने लिखा है हम इसी को नेता मानते हैं कि भाई ये ड्राफ्ट ही हमारा नेता है और हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने की छूट होती है और विरोध करने की भी छूट होती है कभी कभी बहुत सारी चीजों पे मुझसे एग्री नहीं होते जैसे जब मैंने दुरात्मा गांधी की बात कही तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि ये आप मोहन भाई के खिलाफ गलत बातें कर रहे हो उसमें से कुछ एग्री हो गए कुछ अभी भी एग्री नहीं होते तो वो झूठ है मेरे इतिहास के जो आर्टिकल्स आते हैं बहुत लोग उससे एग्री नहीं करते तो खुल के कम्युनिटी में मेरा विरोध करते हैं किसी को कोई रोका नहीं जाता किसी के पोस्ट डिलीट नहीं होते किसी को कम्युनिटी से नहीं निकाला जाता हर एक को एक दूसरे का विरोध करने की छूट मिलती है तो अंधभक्ति का नामो निशान नहीं है क्योंकि मैं स्पष्ट मानता हूँ कि अंधभक्ति से सिर्फ नेता को ही फायदा होता है देश को नुकसान ही जाता है कभी फायदा नहीं होता एकता के नाम पर अंधभक्ति और उससे देश है वो कैसे खड्डे में जाता है कि वो नेता तो मान लो वो नेता क्यों हुए तो जब वो नेता पावर में आएंगे तो पहले वो अनुभवों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे कि भाई पावर में आने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है जैसे लालू यादव ने किया लालू यादव ने पावर में आने के बाद अपने सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया कि मैंने कल तक राइट टू रिकॉल की बात करी कि आज भूल जाओ और जो भूलने में असमर्थ है जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वो मेरे राइट टू रिकॉल के भाषण भूल नहीं सकता वो ग्रुप छोड़ के चला जाए क्योंकि आप मुझे राइट टू रिकॉल से कोई लेना देना नहीं नीतीश कुमार ने भी वही बोला कि भाई वो मैं राइट टू रिकॉल की बात करता था वो तब की बात थी नाइनटीन से लेकर 77 तब मैं पावर में नहीं था अब मैं पावर में हूँ अब राइट टू रिकॉल की बात मत करो भूल जाओ मैंने कभी राइट टू रिकॉल बोला था और यदि याद है तो देश छोड़ के चले और संस्था छोड़ के पार्टी छोड़ के चले जाओ और सुब्रमण्य स्वामी भी पावर में आएंगे तो दूसरे दिन वो वॉलमार्ट को बुलाएंगे वो ये मोटेसो को बुलाएंगे सारी विदेशी कंपनियों को बुलाने वाले हैं और जो राजीव दृष्टि जी के फॉलोवर है जब विरोध करेंगे तो उनको कहो कहेंगे कि भाई कल तक मुझे आपकी जरूरत थी अब मैं पावर में हूँ अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है भूल जाओ कि मैंने कभी देशभक्ति की बात की थी और भूल नहीं सकते तो ग्रुप छोड़ के चले और उस समय अनुभक्तों के पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि उन्होंने अनुभक्ति के सिवा कुछ किया ही नहीं आप ऐसे ग्रुप में देखिए कि जहाँ कानूनों की बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है कि भाई दूसरे देशों ने अपनी सेनाएं कैसे मजबूत की अब जैसे राइट टू रिकॉल ग्रुप में अधिकतर डिबेट हमारा इसी पे होता है कि भाई अमेरिका ने अपनी सेना कैसे मजबूत की सारे चंगेज खान से लेके एलेक्जेंडर से लेकर चंगेज खान से लेकर अमरीका सारे लोगों पर बात होती है कि भाई इन्होंने अपने देश की सेना कैसे मजबूत की कि हमारे दुश्मन देश है अमेरिका हमारा दुश्मन देश है अलेक्जेंडर हमारा दुश्मन ये गोली और सब हमारे दुश्मन थे लेकिन उन्होंने सेना मजबूत करने के लिए जो तरीके अपनाए वो तरीके हमें स्टडी करने चाहिए ताकि उनके द्वारा हम भी अपनी सेना मजबूत कर सकें तो ये सारी चीज़ों पे इंफॉर्मेशन नेता अधिकतर नेता देते ही नहीं अपने कार्यकर्ताओं को तो जब कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि उनके नेता ने उनके साथ विश्वासघात किया तो एक तरह से वो पॉलिटिक्स में से रिटायर हो जाते हैं पॉलिटिक्स से नफरत करने लगते हैं सारे नेताओं से नफरत करने लगते हैं और देश का क्यूमुलेटिव लॉस बढ़ता जाता है आप देखो पिछले 40 साल में जो नुकसान हुआ या पिछले 60 साल में नुकसान कितना हुआ कि 1947 में हमारी सेना इतनी मजबूत थी कि अमेरिका कभी हिम्मत नहीं करता कि भारत पे अटैक करे चाइना की भी हिम्मत नहीं थी कि अटैक करे वो जो स्ट्रेंथ रेशियो है A is to B ratio सेनाओं की मजबूती का रेशियो आज इतना गिर गया है कि अमेरिका चाहे तो हमला कर सकता है इतना नहीं महीने दो तो महीने के अंदर पूरा हिंदुस्तान तबाह हो सकता है आप स्ट्रेंथ का रेशियो निकालो 1947 में भारत की सेना और अमेरिका की सेना का जो रेशियो है तो अमेरिका की सेना में इतनी ताकत नहीं थी कि भारत की सेना को हरा सके या भारत को तबाह कर सके चीन की सेना में इतनी ताकत नहीं थी आज रेशियो इतना बिगड़ चुका है कि चीन की सेना में इतनी ताकत आ गई कि छह महीने के अंदर वो पूरा इंडिया तबाह कर सकता है अमेरिका की सेना में इतनी ताकत आ गई है कि वो दो महीने तो क्या शायद पंद्रह दिन के अंदर पूरा इंडिया तबाह कर सकता है और वो रेशियो क्यों हुआ क्योंकि ये सारे नेता हमारा टाइम वेस्ट कर कि कानून का अध्ययन मत करो साइंस विज्ञान तो कुछ जरूरी है ही नहीं बस यूनिटी पे फोकस करो तो अंत में मैं कहूँगा आपको यदि अंधभक्ति से बाहर आना है या आपको अंधभक्ति की पहचान करना है कि ये आदमी अंधभक्त है या देशभक्त नेता का अनुभव तो है देशभक्त है तो मैं आपको लिटमस टेस्ट दूंगा आप उसको कहो कि भाई तू अपने नेता से प्रश्न पूछ प्रश्न का जो जवाब आता है वो फेसबुक पे डाल और हम कुछ नहीं मांगते उसका जो जवाब आएगा हम तुझे दोष नहीं देंगे मान लो उस, उसने जो भी है उसका वो उसका तो दोष है नहीं तो पूछो तुम कि यदि वो अन्ना का भक्त है तो उसको पूछो कि भाई तुम अन्ना से एक प्रश्न पूछो कि राइट टू रिकॉल की बात आप उससे एक डेढ़ साल से कर रहे हो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट एक महीने में दोगे दो महीने में दोगे तीन महीने में दोगे छह महीने में दोगे अगले जन्म में और उनका जो भी जवाब आता है वो फेसबुक के स्टेटस पे डालो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो कि आप हसन अली का नाम प्रोटेस्ट पब्लिक में करो इस तरह का एफिडेविट कोर्ट में दे सकते हो और ये सवाल आप सुब्रमण्यम स्वामी को ट्विटर में या ईमेल में पब्लिकली पूछो और उसका जो जवाब आता है वो अपने फेसबुक स्टेटस में डालो यदि कोई आदमी अपने नेता से सवाल पूछने से घबराता है मना कर देता है कि मैं अपने नेता को ऐसे मुश्किल सवाल पूछने नहीं वाला तो समझो कि वो देशभक्त नहीं है वो नेता का अंधभक्त बन चुका है वो पेड़ आदमी ऐसा मैं नहीं चाहता वो अपने नेता का अंधभक्त बन चुका है और इतना अंधभक्त बन चुका है कि उसको देश का ही तब दिखता ही नहीं है उसको सिर्फ उनकी नेता की फिक्र और ऐसे अनुभक्तों से मैं कहूँगा कि आप उसको अनुभक्ति से लाने की बाहर लाने की जितनी हो सके उनकी कोशिश कीजिए ताकि देश का कोई प्रभाव हो धन्यवाद